सुनि शत्रुघनु मातु कोटिलाए जरहि गातरिस कछु न बसाए तहि अवसर कुब रीत बसन विभूषण विविध बनाई लखन लखीरिसभरे लखनलघु भाय वरतयनलघृत आहुतिपा हुमगलात की कोबरमारा परिमोह भरमही करत पुकारा माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं पर कुछ वश नहीं चलता उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी कुबर टूटे वो फूट कपारो दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु आह दैव मैं काहन सावा अन पुहन लखे नख खोटी लगे तन धरि धरि झोटी भरत दयानिधि दिन् छडाई कौशल्यापहि ये दो भाई उसका कुबर टूट गया कपाल फूट गया दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा वह कराहती हुई बोली हाय देव मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से सिख तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ पकड़ कर उसे घटी घसीटने लगे तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए मलिन बसन बिबरन बिकल कृष शरीर क्रीर दुख भार कनक कलप बर मेली बन मानहु हनी तुषार कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं चेहरे का रंग बदला हुआ है व्याकुल हो रहे हैं दुख के बोझ से शरीर सूख गया है ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो भरत देखे मातो मुरछी तया बने परिजय आई देखत भर तो विकल भय भारी परे चरण तन दशा विसारी नातु तातु कह देहि दिखाई कह सिय लखन दो भाई कई कई कत जन मी जग माझा जो जनमीत भई काहे न बाझा भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े फिर बोले माता पिताजी कहाँ हैं माता पिताजी कहाँ हैं उन्हें दिखा दे सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं उन्हें दिखा दे कई कई जगत में क्यों जन्मी और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों न हुई कुल को जय जनमेव मोहि अपजस भाजन प्रियजन दोहि को त्रिभुवन मोहि गति गतियसि तोरि लागी पितुसुरपुर बन न केवल सब अनरथ हेतु धिगमोहि भयऊ बेनु बनयागी दुसहदाह दुख दूषण भा जिसने कुल के कलंक अपयस के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ मुझे धिक्कार है मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना मात भरत के बचन मृदो सुन पुन उठे संभार लिए उठाई लगायुर लोचन मोचति बारी भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी